ये वाकया उस दिन होगा जब अल्लाह कहेगा ऐ ईसा इब्ने मरियम मेरा इनाम याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर किया था जब मैंने रूहुल कुद्स के जरिए तुम्हारी मदद की थी तुम लोगों से गहवारे में भी बात करते थे और बड़ी उम्र में भी और जब मैंने तुम्हें किताब व हिकमत और तौरात व इंजील की तालीम दी थी और जब तुम मेरे हुक्म से गारा लेकर उससे परिंदे की जैसी शक्ल बनाते थे फिर उसमें फूंक मारते थे तो वो मेरे हुक्म से सचमुच का परिंदा बन जाता था और तुम मादरजाद अंधे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे और जब तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा निकाल खड़ा करते थे और जब मैंने बनी इसराइल को उस वक्त तुमसे दूर रखा जब तुम उनके पास खुली निशानियां लेकर आए थे और उनमें से जो काफिर थे उन्होंने कहा था कि ये खुले जादू के सिवा कुछ नहीं है